इस बात को समझ नहीं पाता है उसको हम अकल देते हैं भाई ये तार में जो बिजली है बिजली क्यों नहीं प्रकाशित किया बल्कि क्या जरूरत है ये फालतू में दस बीस रुपया खर्च करते बार बार फ्यूज होते रहता है तार लगा दो तार बिजली तो है ना तो क्यों नहीं उससे चलता है क्यों नहीं आपको सब पढ़ाई लिखाई होती उससे और यही कहेगा महाराज वो तो सामान्य रूप है उसका विशिष्ट रूप तो धारण जब तक नहीं करेगा वो प्रकाशन नहीं करेगा ये तो हम भी कह रहे हैं हाँ, वेदांत क्यों नहीं समझते इस बात को जैसे तार में विद्यमान बिजली आपको पढ़ने में मदद नहीं कर सकता बलगुरु भी उपाधि के माध्यम से विशिष्ट भाव को प्राप्त करने के बाद ही वह समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करता है ठीक उसी प्रकार से हम सभी के अंदर विद्यमान आत्मा भी अपने सामान्य प्रकाश के माध्यम से विद्यमान रहने के बावजूद भी किसी वस्तु को प्रकाशित नहीं कर पाता कहीं जब वही इंद्रिय रूपी जो बल्ब है ट्यूबलाइट लगे हुए हैं इन बल्ब ट्यूबलाइटों के द्वारा उस सारे वस्तुओं को प्रकाशन कर लेगा लेकिन ये उपाधि भी ऐसा है छह दूसरे उपाधि के अधीन हो जाते हैं एक उपाधि है स्वयं अपने आप में सीमित शक्ति वाला है और दूसरे उपाधि के अधीन तो होगा ही यानी एक दूसरे की उपाधि न होकर उपाधि अधीन होकर के परस्पर सहयोग देता हो कार्य प्रकाशन कर देंगे अब तारे बल्ब है तो चला दो कैसे चलेगा अरे होल्डर भी तो चाहिए तो बल्ब कहा लटकेगा वो होल्डर भी तो चाहिए ना तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है बिना जो है ये शरीर रूपी होल्डर के बिना इंद्रिया रूपी बल्ब भी नहीं जलने वाले उसको स्थूल शरीर भी गोलक चाहिए ये होल्डर जैसा है ये काम करता है और इस होल्डर में जब इंद्रिया फिट हो जाते हैं तब तो वो लाइट अपना ठक ठक चालू कर दे लेकिन वो भी हम लोगों की इंद्रिया कैसी है ये सर जीरो वाट बल्ब के बराबर है कितना प्रकाश फेंकेगा ये इसलिए इसको बाह्य प्रकाश बड़ी की जरूरत पड़ती है किस चीज को देखना है इंडिया भी बहुत कम तेज निकलता है, है तो अंदर से प्रकाश आ रहा है निकल रहा है लाइट होता है इसके अंदर लेकिन वो इतना न्यून है विशिष्टता में भी न्यूनतम विशिष्टता को प्राप्त किया हुआ है जीरो वाट के बल्ब के समान समझो या इंडिकेटर बल्ब होते किट किट किट करते रहते हैं है नी इंडिकेटर बल्ब कितना होता है तेजो उसे पढ़ पाओगे नहीं पढ़ इसीलिए बाहर से और लाइट चाहिए इसके आंखों को बाहर के और लाइट की जरूरत पड़ गई वैसे सूर्य की जरूरत पड़ता है इस प्रकार से उसको समझते हुए कार्य इसीलिए न प्रकाशित थी वो प्रकाशित नहीं कर सकता दो तो यम अस्मत गोचर अग्नि किम बहुना और क्या अधिक गिनाओ नामों को है यही नम आदित्यादिकम सर्वम भाती तत्तम एवं परमेश्वर भांतम मानम अनुभात अनुदीप्य जो कुछ भी आप इस संसार में प्रकाशमान अर्थ करके ग्रहण कर रहे हो सूर्य चंद्र ताराए अग्नि वगैरह वगैरह जो भी वस्तु है सर्वम ये सारे प्रकाशक रूपेण जिसको आप ग्रहण कर रहे हैं वे भी मान इसलिए होते हैं कि तम एव परमेश्वर भानतम दीप्यमानम संत उस परमेश्वर उस परमात्मा ब्रह्म उसके प्रकाशित हो उसके प्रकाश से प्रकाशमान ही हो रहे हैं ये सब अनुभा मैंने अनुदीप्यते उसके पश्चात ही यह प्रकाश स्वरूप हो जाते हैं यथा जलोन्मुखादि अग्नि संयोग अग्निम तम अनुदहती न सुदस्त जैसे जल उन्मुख जलता लकड़ी इत्यादि क्या है अग्नि का संयोग से ही अग्नि दहनतम अनुदहती वो अग्नि जला रहा है और आप क्या कहेंगे लकड़ी जला दिया जल जला दिया अरे जल जला सकता है ना लकड़ी जला सकता लेकिन उस जल में विद्यमान अग्नि ने जलाया और आपने क्या कर दिया अग्नि जला दिया तो उस अग्नि जो जला दिया है कहने के जगह पर आप क्या कर देते जल जला दिया इसी प्रकार से लकड़ी में विद्यमान अग्नि जला रही और आप ये नहीं कहेंगे अग्नि जलाया इंदा गया लकड़ी से जल गया इसी प्रकार से यहाँ भी है आपको यह जानकारी होने के बावजूद भी आप कभी ये नहीं कहेंगे आत्मा का प्रकाश से हम प्रकाशित हो रहे हैं यह आत्मा के प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहा है आप कहेंगे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है वो जो उस सूर्य के प्रकाश का भी पीछे जो उसका भी कारणीभूत जो प्रकाश है सूर्य तो प्रतिबिंब मात्र फेंक रहा है उसका जैसे सूर्य का प्रकाश को लेकर चंद्रमा प्रतिबिंब फेंक देती है रात्रि में उसी प्रकार से दिन में उस आत्मा के प्रकाश को ही लेकर के सूर्य प्रकाश फेंक रहा है लोग कहेंगे भैया तो आग वहां चल रहा है अरे आग कैसे जल रहा है क्यों नहीं आज तक पूछा इतने लाखों वर्षों से वहां जल नहीं रहा है अभी तक जल रहा है और जलते ही रहेगा क्यों कौन वहां लकड़ी डाल रहा है बड़ा आश्चर्य है और उस दिव्य सूर्य की शक्ति के बिना कोई जिंदा ही नहीं रह सकता उसी के ताप से अनुतप्त होकर के समस्त कीटाणु मर जाते हैं चार दिन बंद हो जाए सूर्य को हाहाकार मच जाता है रोग फैल जाते हैं ठंडी बढ़ जाती है कहते कहते मर जाते हैं उस विशिष्ट प्रकाश तेज सब कुछ जो आया हुआ है वो आत्मा के ही है यह बात वो उपाधि की विशेषता है राव कहेंगे हमारे यहाँ से क्यों नहीं हो रहा हमसे क्यों नहीं निकलता आप घास नहीं भाई इसीलिए तुम्हारी उपाधि वैसी है ना अभी हमने बताया तुम्हारी उपाधि इंडिकेटर के बराबर जीरो वाट का बल्ब के बराबर भी तो क्या करे कितना प्रकाश आए नहीं आ सकता है उसी प्रकार यहाँ पर भी कहते देखो जल उन्मुखारी अग्नि संयोग के कारण से ही अग्नि वास्तव में जलाती हुई रहती है तो उसके पश्चात ही उसका जल के द्वारा जलाना लकड़ी जलाने का वार होता है न स्वतः स्वतः जल या लकड़ी जला नहीं सकते ठीक उसी प्रकार से तद्वत स्वतः ही सूर्य प्रकाश को दे नहीं सकता है दिखा भी दिया भगवान ने क्या किया अपने माया को फेंक दिया पूरा अंधकार कर दिया चार बजे सूर्यास्त कर दिया हुआ था ना महाभारत में उसको मारने चेतरथ को मारने कसम खा लिया अब क्या करे चौबीस घंटे में मारो नहीं तो मरूंगा अब क्या करे ये भगत है भोला भगत जानता ही नहीं प्रतिज्ञा कर बैठा अब उसको सच करने के चक्कर में भगवान ने दिखा दिया तब चमत्कार और ये दिखा दिया वास्तव में क्या है उन्हें कोई बादल छोड़ा अरे सिनेमा वाले दिखाए थे बादल छोड़ दिया अरे बादल हाथ से छोड़ दिया या सूर्य चक्र छोड़ दिया कोई ऐसे दिखा देता है कैसे दिखा देते सिनेमा वाले अपना अपना कल लगा रहे हैं अरे सीधी सी बात है उसके अंदर जो अपने प्रकाश थे उसका आवृत कर लिया स्वयं से दिया हुआ प्रकाश है ना जैसे आप तार छोड़ रखे उसका हाथ स्वयं बंद कर दो काम खत्म हो गई शुद्ध ब्रह्म ही तो है कृष्ण उसी ब्रह्म के प्रकाश से वो प्रकाशित हो रहा है और स्व प्रकाश का आवृत कर लेंगे तो कहा से सूर्य प्रकाश देगा वो तो तावा जैसा हो गया होगा प्रकाश कहां से देगा सब अपने आप को समेट लेने मात्र से सब खत्म हो जाएगा संकल्प जन के सूर्य के प्रकाश को समेटा सबका प्रकाश को नहीं सबको निपट <laughs> प्रलयी था फिर तो इसीलिए कहते हैं देखो न स्वतः वह स्वतः ही प्रकाश दे नहीं सकता है ठीक उसी प्रकार से तसेव भाषा श्रम श्रमिदम सूर्यादि विभाति उसी विभागता के प्रकाश से दीप्ति से ये सारा सूर्य या जितने भी पदार्थ हैं ये सब प्रकाश को दे रहे हैं यह एवं तदेव ब्रह्म भाति च विभाति च इसीलिए निश्चय हो गया किमु भाति भाति का जवाब है तदेव ब्रह्म विभाति जी भाति वास्तव वही ब्रह्म सामान्य रूपेण प्रकाशित है विशेष रूपेण भी प्रकाश दे रहा है कार्यगतिन विविधेन भाषा तस्य ब्रह्मणो भारूपत्तम स्वतोवगम्य कार्यगत जो विविधेन भाषा विविधेन भाषा प्रयोग कर दिया भाषा शब्द से मालूम होता है कि पुलिंग है विविधे न कह दिया ना नहीं तो विविधे न कैसे होता पुलिंग विविधे न भाषा कार्यगत तो नाना प्रकार का जो प्रकाशमान पदार्थों को हम देख रहे हैं इससे ज्ञापन हो रहा है यह सब तस् ब्रह्मणो भारूपत्व ब्रह्म की भारूपत्व स्वतः ही सिद्ध हो जाता है ज्योतिर्मय तो स्वतः सिद्ध हो गया इस ज्योतिर्मय ब्राह्मण में तो वृदायण स्पष्ट ही है जिसके आधार पर आप जो जानते हैं ये श्लोक वेदांत वो उसी क्या आधार ज्योत्र में प्राप्त किन ज्योतिष तो मान आने में जो पहले विचार हो चुका है कई बार इस श्लोकों को ये ज्योत्र ब्राह्मण के आधार बनाया की उसे स्पष्ट ही है ना सर्वानुभव सिद्ध है और आत्मा के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है वो आत्मा ही सारी चीज को जान रहा है सकल उपाधियों के माध्यम से और नहीं भी जान रहा है क्योंकि निरुपाधिक भी उपाधियों की दृष्टिकोण से अध्यास को स्वीकार करता हुआ कहा जाएगा कि आत्मा इन उपाधियों के द्वारा सबको प्रकाशित करके जान रहा है और अध्यास रहित अविद्या रहित होकर आप देखोगे न उपाधि है न कुछ भी नहीं है तो जान रहा है कौन कोई कुछ नहीं जान रहा पारमार्थिक दृष्टिया न बंधो न मोक्ष इसलिए कहते हैं इस विविध कार्यगत विविध प्रकार के फास को देखते हुए हमें निर्णय लेना होता है कि भाई जो ब्रह्म का ही ब्रह्म क्या है ब्रह्मण भारूपत्व स्वतो गम्य थे नहीं स्वतः अविद्यमान भाषण अन्य से कर तुम शक्य जो स्वतः जो भाष स्वरूप नहीं है वो दूसरे को प्रकाश प्रदान नहीं कर सकता स्वयं अंधकार रूप है दूसरे को कहा से प्रकाश देगा स्वयं के अंदर यदि अज्ञान है तो दूसरे को ज्ञान कहा से देगा स्वयं अनानंद रूप है तो दूसरे को आनंद कैसे प्राप्त कराएगा सुशुक्ति में स्वयं अस्तित्व अभाव रूप है तो दूसरे को अस्तित्व कैसे प्रदान करेगा जिसकी स्वयं की कोई झोंपड़ी नहीं कुटिया नहीं कुछ नहीं हो कह सकते हैं कि आइए हमारे महल में रहिए उसका महल है कहा झोंपड़ी भी नहीं है तो जो स्वयं की अस्तित्व जिसकी नहीं है वो दूसरे को अस्तित्व प्रदान नहीं कर सकता जो स्वयं के अंदर चेतनता नहीं है या चेतन स्वरूप नहीं है वो दूसरे को चेतन प्रदान नहीं कर सकता जो स्वयं आनंद रूप नहीं है वह दूसरे को आनंद का अनुभव नहीं करा सकता इसलिए कहते स्वतः जो अविद्यमान भाषण में चेत तरी अन्य भाषमान कर तुम न शक्यम घटादि नाम अन्य भाषकत्व दर्शन जैसे देखो दृष्टांत में घटादि है ये स्वयं भाष स्वरूप नहीं है अत दूसरे को भाषण नहीं कर पाते प्रकाशन नहीं कर सकते भाषण रूपाराम आदित्यादि नाम दर्शनार्थ क्योंकि भाषण स्वरूप वाले आदित्यादियों के अंदर यह देखने को मिलता है वह दूसरे को प्रकाशित कर रहे हैं इस प्रकार से मध्यमाधिकारी के लिए समझा दिया ब्रह्म ज्ञान उत्तम अधिकार से सीधे कहना हाँ, न जायते मृत देवा कदाचित सीधे ही बोल दिया था आ वो पकड़ में नहीं आया तो मध्यमाधिकारी को कहा कि भाई ये देखो मृत्यु है ना ये सब क्या है चटनी आचार सब्जी जैसा है और ब्राह्मण क्षेत्र सब जो है भात वगैरह है ऐसे मध्यम अधिकारी को थाली के दृष्टान देकर के भोजन दृष्टान के द्वारा समझाते हुए अभी तक समझाया अब मंद अधिकारी क्या करे उसको तो ये भी बात पकड़ में नहीं है वो कहेगा नहीं ये नहीं हो सकता भाई भाई सूर्य को प्रकाश देने वाला उसी बड़ा सूर्य होगा कोई हाँ नहीं तो कहा अरे ये आत्मा हमारे और आपके सबके अंदर रहने वाला यहाँ से सूर्य में प्रकाश गया और वो वहां से प्रकाश देगा क्या ऐसे जैसे कुतर्क करने वाले मंदाधिकारी तो कुतर्क करे वो नहीं मानता कि व्यापक है आत्मा अरे सब जो महाजन्य कार्य है और वो महान प्रकाश स्वरूप आत्मा को आवृत करने के बाद में सूर्य दिखाई दे रहा है उसमें आवृत के अंदर सूर्य भी नहीं दिखाई देता सूर्य जैसे दिखाई देगा जब जब पहला आतम बम को विस्फोट किया वैज्ञानिक ने और गीता पढ़ा हुआ था उसने कहा वो श्लोक को युगपत कहते हैं कि देखो कि जब तक आत्मा के प्रकाश को पूर्ण गुण आवृत नहीं करेंगे ये सूर्य और मैं अलग करके दो भान ही नहीं हो क्योंकि हमारे बीच कुछ ऐसा भी है ना जो मंद प्रकाश है या प्रकाश अभाव होगी तभी तो हमें सूर्य अपने सड़क दिखाई दे रहा सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश हो जाए फिर सूर्य का हम का रहेगा कोई भेद इसीलिए उस आत्मा को आवरण करने के बाद वो लाख वाट का बल्ब जल रहा है जीरो वाट का बल्ब यहां जल रहा है इसीलिए आपको एक दूसरे को दिखाई दे रहे हैं उपाधियों के कारण यदि उपाधियों को हटा दिया जाए उपाधियों का कारणीभूत आवरण और मल विक्षेप को हटा दिया जाए सर्वदा आप तो प्रकाश ही दिखेगा तो और दूसरा प्रकाश ही नहीं रहेगा तो सूर्य का प्रकाश है चंद्रमा का प्रकाश है अमु का प्रकाश है व्यवहार ही खत्म हो जाएगा पहले इस बात को मंदाधिकारी नहीं समझ सकता इसे कृपाल श्रुति कहती भाई कार्य से कारण को पकड़ना तो समझ में आ जाएगा ना अरे कौन सा पेड़ है आप देख करके कहोगे ओहो इसमें इधर फल भी लगे आम का जैसे आम का फल है ये तो ये पेड़ आम का पेड़ है इसलिए इसका जड़ में जो पहले बीज जो था वो भी आम का बीज था यदि आम का बीज नहीं होता तो आज यह पेड़ आम फल नहीं दे सकता इतना तो गंवार भी बोल लेता है नहीं बोलेगा तो हमारे का तो थोड़ा बड़ा ही होगा थोड़ा ज्यादा तो होगा ही तो इसलिए मंदाधिकारी के लिए इस वृक्ष की कल्पना पूर्वक संसार का मूलभूत कारण शुद्ध ब्रह्म स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं अगली वल्ली के द्वारा तूलावधारण मूलावधारण वृक्ष से क्रियते कार्य का निश्चय के द्वारा तूल में कार्य कार्य निश्चय द्वारा कारण का निश्चय वृक्षा दृष्टान के द्वारा सभी लोग किया करते हैं यह जानते ही है कौन करते हैं लोके क्रियते इस लोक में सभी ऐसा ऐसा करते हैं यह सब जानते हैं यथा एवं जिस प्रकार ऐसा है ठीक उसी प्रकार से एवं एवं संसारात्मक जो कार्य है इसको वृक्ष की हम उपमा दे देंगे संसार का कार्य वृक्षावधारण संसारात्मक कार्य रूपी वृक्ष का निश्चय के द्वारा तन मूल से ब्रह्म स्वरूप अवधारिशया उसके मूल कारण को तो ब्रह्म का अवधारण करने की इच्छा से यम सृष्टि वल्ली आरभ्य ये छठी वल्ली आरंभ हो रही है ऊर्ध मूलो अवाक्षाखा शो अश्वत्थ सरातन तदेव शुक्रम तद ब्रह्म मच्छते कसन लोकाश्रवा सर्वे तदुन्नाते कश्चन एक तद्वई तत् मूलो अवाक्षा का ये उल्टा वृक्ष है ये महान करके जो मंदाधिकारी है ना उसको तो बोलना पड़ेगा और ब्रह्म का है भगवान का है वो ब्रह्म लोग के ऊपर सात आसमान के ऊपर बैठा हुआ है मंदाधिकार तो ऐसे कहना ही पड़ेगा नहीं तो मानेगा नहीं सर्वत्र तो कैसे मानेगा मंदाधिकारी की बात हो रही ना इसलिए मूल का है ब्रह्म वो यही सोचे ठीक है ऊपर रहता है ऐसे ही पहले सोचना पड़ेगा ना फिर बाद में कहना पड़ेगा उसे जो बीज है और ये जो वृक्ष है अलग है क्या जो तुम बीज बोते हो वही बीज तो वृक्ष हुआ है कि दूसरा है वही है दूसरा तो है नहीं तब उसकी अकल है अच्छा तो इसका तो वही ये है बाद में समझ में आएगी पहले तो उसको यही बोलना पड़ेगा सात आसमान के ऊपर ब्रह्मा ब्रह्म बैठा हुआ है और वो ब्रह्म ने ब्रह्मा को पैदा किया उस ब्रह्मा ने जो सृष्टि को पैदा किया इसलिए ब्रह्म का नीचे ब्रह्मा का, कलोक है ब्रह्म ऊपर है उसका नीचे ब्रह्मा जी का लोक ब्रह्मा जी का नीचे अन्य सब लोग इधर से बड़ा पेड़ है ऐसे उसको समझा जाना है फिर कहेंगे वो ब्रह्म ही ब्रह्मा है ब्रह्म ही ये सृष्टि है अतः सृष्टि भी ब्रह्म ही अतः मैं ही ब्रह्म तो मैं अलग कहा रह गया फिर सृष्टि से बाहर हो गया इस अभेद पूर्वक धीरे धीरे उसको लाना है इसलिए आरम्भ कर रहे हैं ऊर्धमूलो अवाक शाखा इसका मूल ऊपर है जिस ये संसार वृक्ष अनुभव कर रहे हैं इसका मूल व्यापक परमात्मा के परमात्मा परम पद रूप जो स्वरूप है को कहने के लिए कहा जाएगा ऊपर है और उसकी जो शाखा है देव नर तिरिका योनिया प्रभु जो वृक्ष रूपा संसार इसकी शाखाएं नीचे की ओर है और ये अश्वत्थ है ये कैसा ये अश्वत्थ है निरंतर चला है मान क्षण भर के लिए रुकता नहीं ऐसे इस अश्वत्थ का पेट भी देख लो पत्ता जो है कभी जाए गर्मी का दिन भी करते रहे हिलते रहेगा जैसा भी दिन हो चौबीस घंटा वो हिलना ही है उसका काम और चौबीस घंटा ऑक्सीजन देता है पौधे जैसे सर्वश्रेष्ठ वृक्षों में गिनती वैज्ञानिक भी कर ली है अब भगवान ने तो कहा ही वृक्षाणा इसलिए उसी को यहाँ पर दे रहे ये संसार भी ऐसा ही है क्षण भर के लिए भी शांति नहीं है यहाँ खटर पटर खटर पटर होते ही रहता है यहाँ शांति ढूंढोगे तो मिलने वाला है ही नहीं कभी नहीं मिल सकता तो इसलिए कहते हैं कि वो कैसा है वो सनातन ऐसा यह अश्वत्थ वृक्ष अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा मैंने जब तक आपका ज्ञान है यदि अनंत काल तक अज्ञान रहेगी रहेगा तो अनंत काल तक तो संसार भी है आपके लिए इसलिए वो सनातन है वृक्ष तदेव शुक्रम तद ब्रह्मा है ना फिर ये जो संसार वृक्ष ना यही वो ब्रह्म है यही शुक्र है यही शुभ्र है शुद्ध है और यही ब्रह्म है अलग नहीं रहा एक कर दिया तदेव शुक्रम संसार वृक्ष का मूल कारण जो चैतन्य आत्म स्वरूप है स्वभाव है वह विशुद्ध है वह ज्योति स्वरूप है जो मूल है वह मूल ही ये वृक्ष है अतः मूल जब ब्रह्म है तो वृक्ष भी ब्रह्म ही तस्मिन लोका श्रद्धा सर्वे इसलिए उसी ब्रह्म में यह समस्त लोक कल्पित होकर आश्रित है तदेव अमृतम उच्चते और वही ब्रह्म को अमृत करके भी लोग कहते हैं उसी ब्रह्म सभी लोग सब के सब उसी जिस प्रकार से शुक्ति में रजत आश्रित है उसी प्रकार से ब्रह्म में समस्त लोक शुक्तिवत कल्पित होकर आश्रित है अतः कल्पित वस्तु कभी अपने अधिष्ठान का अतिक्रमण नहीं कर सकता कल्पित कोई भी वस्तु अपने अधिष्ठान को अतिक्रमण करके कभी नहीं रह सकता सुक्की इतनी छोटी हो चांदी इतनी बड़ी दिखाई दे ऐसा नहीं हो सकता जितनी बड़ी सुक्ति उतनी बड़ी चांदी दिखाई देगी कि नहीं रस्सी इतनी लंबी और सांप इतनी लंबी दिखाई दे ऐसा होता नहीं जितनी लंबी रस्सी उतनी ही लंबा सांप दिखेगा अधिष्ठान का अतिक्रमण करके किसी भी प्रकार की कल्पना आप कर नहीं सकते जो भी कल्पित वस्तु हो होगा वह स्वाधिष्ठान को अतिक्रमण कभी नहीं कर सकता अतः संसार भी वृक्ष जिसमें कल्पित है उसको अतिक्रमण कभी नहीं, नहीं कर सकता तदुन्नाते कश्चन एक तो निश्चय यही वह ब्रह्म है जिसको तुमने पूछा था इस संसार वृक्ष के बहुत गजब ढंग से यहाँ चित्रीकरण करेंगे भाष्यकार ये भाष्य बहुत ही सुंदर है पढ़ने लायक चीजें बारंबार रोज रोज एक बार पढ़ के समझो ये संसार कैसा है ताकि वह वैरागी ठीक ठीक बना रहेगा इतना पंक्ति अलग से लिख के रट लेना चाहिए यार रटने से नहीं कहा चिंतन करना जरूरी है और रटेगा फिर बोलेगा कहीं ना कहीं प्रवचन मुश्किल हो जाएगा तो रटना नहीं है अंदर से समझना है अंदर से चिंतन होना है रटने से सब गड़बड़ हो जाता है काम इसलिए हमने आज तक आप लोगों का आश्चर्य सुनने के हमने गीता को आज तक नहीं रटा है नौ परिषदों को रटा है कभी हमने से रचने से नफरत हो गया क्यों जो रचा हम देखा बढ़िया से बढ़िया प्रवचन बोलने में लग जाता है ये तो कोई खतरनाक काम है ज्यादातर तो श्लोक बोलेगा लोग कहेंगे वाह वाह वाह नोट नोट नोट नोट कमाल है हमने कहा ये खतरे का काम है अपनी मर्जी है देखो कैसा वृक्ष बता रहे ऊर्द मूला ऊर्द मूलम यद तत् विष्ट परम पदम असिधि ऊर्ध मूला मैं ऊर्धम मूलम यत ऊर्ध है मैं है मूल जिसका वो है क्या वास्तव मूल विष्णु परम पदम विष्णु ही जो परम पर व्यापक पद परमात्मा शुद्ध ब्रह्म है वो ये कस्य अस्य अस्य मने वृक्ष इति स्वयं अव्यक्त स्थावरांत संसार वृक्ष ऊर्ध मूला विग्रह के ऊर्धम मूलम अस्य मूलम की व्याख्या बीच में कर दिया मूलम का व्याख्या है यद तद विष्णु परम पदम फिर विग्रह वाक्य में आ गए ऊर्धम मूलम अश्च इति ऊर्धम मूला वो तो क्या है ऊर्धमूल स्वयं अव्यक्त स्थावरांत संसार पक्ष ऊर्धमूला अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यंत जितना भी जो कुछ भी है वह सारा का सारा संसार वृक्ष को ऊर्ध मूल शब्द से कहा जाता है वृक्ष इसमें वृक्ष क्यों कहा आपने संसार को वृक्षनाथ छेदनाथ वृक्ष वो वस्तु छेदने असंग शस्त्रीन छेदन करने वाला है ये छेदन करने योग्य है ये छेद है अतएव ये रूप होने के नाते इसको वृक्ष नाम से कह दिया गया वो वृक्ष छेदने दास वृक्ष शब्द बनता है छेद तो युक्ति में छेद क्यों है हाँ लंबा चौड़ा कहें ये छेद क्यों है संसार क्योंकि संसार है ही ऐसा छेदन करने योग्य ही है ये इसको बचा के रखना नहीं तो छेदन करके चला के ताप लो इसी में लाभ है नहीं तो मुश्किल है क्या मुश्किल है जन्म जजरा मरण शोक आदि अनेक अनर्थात्मक सबसे पहला नंबर में का है वृक्ष कैसा है संसार जन्म जरा मरण शोक आदि अनेक अनथ रूपावट चाहिए जन्म मरण का चक्कर भी है जन्म हो गए बुढ़ापा आएगी मरेगा और इस बीच में भी कोई शांति नहीं शोक आदि अनेक अनर्थ को भोगते और कैसा है ये अनेक विशेषण समझाएंगे सब प्रथमांतों को वृक्षा का विशेषण समझो प्रतिक्षण अन्यथा का स्वभाव अरे वृक्ष ये भी नहीं एक रूप रहता है प्रतिक्षण अन्यथा स्वभाव एक स्वभाव इसका आपको देखने को मिलेगा ही नहीं बदलते ही रहता है परिवर्तनशील है कहने का मतलब प्रतिक्षण परिवर्तनशील है देखना है तो शादी कर लो पता लग जाएगा माया मरीच गंधर्व नगर अधिवत दृष्ट नष्ट स्वरूप क्यों तो ऐसा कि ये माया मरीचि उदक गंधर्व नगर माया मरीचि उदक माया मरीचि उदक जो है अपनी माया अज्ञान के कारण से परिकल्पित जो है मरीचि में जो उदक की परिकल्पना की उसी प्रकार के ये भी वहाँ कभी आप रेगिस्तान में जाओ और दूर से देखोगे ना यहाँ गंगा जी भी कभी शांत चलती हुई दिखाई दे सकती है बिना तरंग का गंगा जी भी आप देख सकते हैं कहीं कहीं इन मरु मरीचिका जल में एक क्षण के लिए भी तरंग रहित आप देख नहीं सकते नाचते रहता है लहरा है रहा है पानी अपने पास आ रहा है जितना जाओ तो उतना ही दूर होता है लेकिन लेकिन फिर भी अकल नहीं आती है सोचते यही है पास में भागते रहता हिरण बेचार प्रतिक्षण परिवर्तनशील लहराता हुआ दिखाई देता है वो जैसे जब गर्मी का में कार खड़ा होना गर्म हो जाता तो कार देखो तो उसके ऊपर कैसे लगता है आपको दिखा कभी ऐसे लहरता रहता है लहरते रहता है एक क्षण की लहर बंद होगा कभी नहीं निरंतर लहराते रहेगा उसी प्रकार से भी माया मरीची उदक है इसी प्रकार गंधर्व नगर भी है आज एक गंधर्व नगर आपने देखा कल दूसरे गंधर्व नगर हो जाती है घंटे भर में अलग मान बैठे बैठे बैठे तो कल्पना कर रहे हैं ये तो गंदर नगर है क्या आपने मान लिया है बड़ा बिल्डिंग है इसमें हम जा रहे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं बैठे बैठे सोच रहा है आश्रम बन गया सब कुछ हो गया अपना मानता ही हो गई नहीं कल्पना कर लिया अब किसी किसने जगाई आपको बुलाया तो आपने उठ के उधर देखा बातचीत कर लिया उसके तो चला गया फिर बैठ गए फिर दूसरी बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा वहीं वही पे पहले जो कल्पना की थी वो आकृति बदल गई दूसरी कल्पना चलो उधर इस कल्पना का को कोई ठिकाना नहीं इसे गंधर्व नगराधिवत दृष्ट नष्ट स्वरूप देखते देखते नष्ट हो जाने वाले हैं सारी चीजें लगता है आपको बहुत समय से है कहते भी है हम लोग चादर हमने बारह साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ है ना लोग कहते हैं लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है वो दृष्ट नष्ट स्वरूप वाला है देखा देखते देखते वो खत्म भी हो गया परिवर्तनशील आज के वैज्ञानिक भी मानता है नैयायिक भी कहता है परमाणु इधर उधर होते ही रहते इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते बदलते रहते तो प्रतीक्षा इसलिए क्या हो गया जो पहले वाला तो वही रहेगा स्ट्रक्चर हर क्षण आपका स्ट्रक्चर बदल रहा है उसकी जो बनावट है उसकी बदलती रहती है बारह साल वही लेकिन बारह साल पहले जितनी गर्मी दी थी आज चादर उतनी गर्मी देगी क्यों यदि वही है नहीं वो क्षीण हो रहा आज वो आपका साधारण कुर्ते के बराबर भी नहीं है वो कम्बल बारह साल बाद कुछ भी आपका ठंडी को रोक नहीं सकता कितना घिसावा होता है लेकिन भ्रांति से कह देते हैं वही यह है बारह साल से मेरे पास है वास्तविक कथा यह है दृष्ट नष्ट स्वरूप वाले हैं अवसाने जो वृक्ष अभावात्मक और अवसान में क्या है वृक्ष के समान अभाव अभी पेड़ खड़ा है सुख गया काटा जला दिया क्या रहा राख वो भी मिट्टी है वृक्ष का रहा जैसे अभावात्मक होता है उसी संसार में वृक्ष भी अंत में अभावात्मक ही हो जाएगा कुछ भी नहीं रहेगा कदली स्तंभवत निस्सारो लेकिन चलो जब तक है तब तक कुछ सहार तो होगी कहते कोई सार नहीं कदली स्तंभवत केले का पेड़ चीरते जाओ क्या होगा खोलते खोलते खोलते प्याज ये सब वही दृष्टान है छीलते जाओ क्या अंदर मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा पहाड़ खोल जाओ छुया मिल जाए तो धन्यवाद है वो भी ना मिले तो वही दुर्दशा यहाँ है संसार वृक्ष कुछ भी नहीं मिलने वाला निस्सार है कदली स्तंभ निस्सार अनेक शत पाखंड बुद्धि विकल्प आस्पाद कहते कहता है यह अनेक शत पाखंड बुद्धि से विकल्पास्पद है ये बड़ा विलक्षण भाषाकार कह दी यहाँ पर आकर के देखो अनेक पाखंडी जो अपने आप को बड़े बुद्धिमान मानने वाले लोग हैं उनके विकल्पों का आश्रय है ये अनेक शत पाखंड बुद्धि सैकड़ों पाखंडियों की जो बुद्धि है पाखंडी मने अनद्वैती अद्वैती नहीं जितने अनद्वैती लोग हैं विशिष्टाद्वैत द्वैताद्वैत शुद्धाद्वैत विशिष्ट अविशिष्टाद्वैत जितने भी सब गाने वाले लोग हैं अनद्वैती जितने भी हैं वे सब के सब सैकड़ों है ये तो थोड़े ही है सैकड़ों संप्रदाय आपको मिल रहा है इस समय में सैकड़ों संप्रदाय कैसा है ये अनेक शत पाखंड बुद्धि परिकल्पनाएं हैं तदाश्रित ये संसार है और यदि संसार ही नहीं यदि यहाँ हजारों संप्रदाय न हो गए अनेक धर्माभास रूप अनेक धर्म भान न हो गए फिर संसार किस बात की ये संसार की यही विलक्षणता है यही सुंदरता है यही उसकी शोभा है कि यहाँ पर एकता में भी अनेकता की भ्रांति होती रहे अनेक संप्रदाय हो अनेक धर्म कर्म हो यही संसार का स्वरूप है और तत्व जिज्ञासु भी अनिर्धारित इदम तत्व और तत्व जिज्ञासु दृष्टि से क्या है उनके लिए इदम है ही इसलिए इदम कोई चीज निर्धारण ही नहीं कर सकते किम न किंचित अभी यही उसको गहरा पड़े नहीं भी नहीं तो किंचित अभी इसलिए जिज्ञास भी विजिज्ञास भी तत्व विजिज्ञास भी अनिर्धारित इदम तत्व तत्व वह तो इदम तत्व निर्धारण ही नहीं कर सकता क्यों उसके लिए इधम है ही जगत ही नहीं होता जहां ब्रह्मानुभूति कर गया तत्व हो वह तो यही समझेगा कि एकमेव द्वितीय ब्रह्म तत्व है इदम है ही नहीं इसलिए इदम का निर्धारण नहीं कर सकता और जो पाखंड लो इदम का ही निर्धारण करने में लगे रहते में मित्रमेव भवती ये लगे हुए ना हर संप्रदाय वाले कहते नहीं ये ऐसा ही है ऐसा ही है मैं जो कहता हूँ वही है मानो ये तो चल रहा इधम इतम एवं ये जो कहेगा ये पाखंडी लोग कहेंगे इदम नास्त्यवा ये तत्व तो जिज्ञासु कहेगा ये अंतर है इस वृक्ष के बारे में वेदांत निर्धारित पर ब्रह्म मूल सारो वेदांत से निर्धारित पर ब्रह्म ही है मूल कारण जिसका ऐसे कारण वाला कारण का सार कार्यो अयम वृक्ष उसी ब्रह्म का कार्य वृक्ष है अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज प्रभव ये कौन से बीज से पैदा हुआ हुआ संसार अविद्या से जन्य जो कामना पूर्वक कृत कर्म एवं अव्यक्त इस बीज से यह वृक्ष पैदा हुआ संसार पर वृक्ष अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति आत्मक हिरण्य गर्भांकुरा इस संसार में वृक्ष का अंकुर क्या था हिरण्य गर्भ ही अंकुर था कैसे सहरंग अपर ब्रह्म नाम से जो प्रसिद्ध है जिसे विज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दो शक्ति स्वरूप वाला हिरण गर्भ है वही इस संसार वृक्ष का अंकुर है सर्व प्राणिलिंग भेद स्कंद इसका स्कंद मैंने इसकी जो शाखाएं क्या है तो सभी प्राणियों की जो सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म शरीर इसकी शाखा है सर्व प्राणी लिंग वेद सगल प्राणियों का जो लिंग शरीर कृत भेद ही इस संसार वृक्ष की शाखाएं हैं और तत् जल आशय कोद्भूत दर्पो और जो है इस प्रत्येक पत्ते वगैरह में जब तक जीवित उसके अंदर एक तेज विलक्षण होता है वो जो दर्प तेज क्या है जिसके वजह से वृक्ष खड़ा है गिर नहीं जाता जिसके वजह से पत्ते हरे भरे हैं जिसके वजह से जो शाखाएं है सूखे हुए नहीं है वह तेज रूपी दर्प क्या है कहते हैं तृष्णा जल आसे उद्भवो दर्प तृष्णा रूपी जल के सेचन के कारण से ये बढ़ चढ़ करके होके रहते हैं और इतना जल्दी न गिरते न मरते न सूखते हैं इंद्र विष प्रवाला और पल्लव क्या है इसके प्रवालांकुर मैंने पल्लव जो फूटते ना बीट्स जय जो फूटता है फिर उससे भी एक शाखा निकलती है शुरू में तो छोटा सा निकलता है बाहर वो जो प्रवाल अंकुर है वो प्रवाल अंकुर क्या है जिसको पल्लव की कहते तो वो क्या चीज है तो कहते कि देखो बुद्धि इंद्रिय विषय कह दिया बुद्धि इंद्रिय विषय मैंने ज्ञान इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया बुद्धि अतः बुद्धि और सगल इंद्रियों को ले बुद्धि और इंद्रिया सकल का और वो भी कैसे विषयों के सहित शब्द स्पर्श है न वचन आदान इत्यादि सगल दस कर्म जो दस इंद्रियों का दस कर्म है फिर मन बुद्धि अहंकार व्यापना अपना कर्म है स्व विषय है जो विषय सहित इंद्रियों को कर्णों को ग्रहण करना यही से आया क्या है इस सूक्ष्म शरीर के द्वारा बाहर फुटित हो रहे नहीं है बाहर जगत की ओर जाने के लिए वही रास्ता होता है फैलने का तरीका है और पलाश क्या है पत्ते क्या है इसके श्रुति स्मृति न्याय विद्योपदेश पलाश हो संसार में जो वृक्ष के पत्ते क्या है तो श्रुति स्मृति न्याय और ज्ञान रूपा जो उपदेश एक थोड़े तो अनंत उपदेश है इसे अनंत पत्ते लगे हुए यज्ञ दान दपादि अनेक क्रिया सुपुष्प इसमें पुष्प क्या है यज्ञ दान तप इत्यादि अनेक जो साधन है ये साधन ये फूल है इसलिए साधन से तो फल मिलेगा यही नहीं फूल से ही फल निकलता है इसलिए उसको फूल फूल कर दिया समस्त साधनों को सुख दुख वेदना अनेक रस और इसमें जो फल लगेगा वो फल कैसे होते हैं वो फल में जो रस है खट्टा मिट्टा रस है केवल मीठा नहीं है केवल खट्टा भी नहीं है ऐसा विचित्र वाला है सुख दुख वेदना अनेक रस वाला फल है फल क्या है उपजीवी अनंत फला प्राणियों की आजीविका रूपा अनंत फल है एक दो नहीं है इस लोक से लेकर के नीचे के लोकों में और ऊपर के लोकों में सकल ब्रह्मांड फल स्वरूप स्वकर्म उपभोग हम कर ही रहे हैं प्राणियों के द्वारा उपजीवी जो आजीविका रूपा अनंत फल है तत् तत् कृष्ण सलिलावसेक प्ररूढ़ दृढ़ बद्ध मूल और इसका जो मूल है तो बंधा हुआ है दृढ़ता पुलक उखड़ता नहीं इसका जड़ क्यों कहते तृष्णा उन्हीं फल होंगे तत्व में तद फल जो तृष्णा है थोड़ा सा सुख मिला तो और सुख की अपेक्षा होती है और सुख मिला तो और बढ़ने की इच्छा होती है वो जो तत्द फल निरूपित जो तृष्णा पहले साधारण तृष्णा लिया है ना तत्त तृष्णा से क्या लिया था शरीर भेद निष्ठ जो तृष्णा जलाशय को भी था तृष्णा रूपी जल का आशिक था वो क्या है सूक्ष्म शरीर में विद्यमान जो पूर्व जन्मादियों में कृत जो वासना है और यहाँ तृष्णा से क्या लेना है तत्त फल उपभोग से जन्य जो तृष्णा इस जन्म में आपको अनेक प्रकार का सुख मिल रहा है दुख मिल रहा है तत्जन्य जो जो फल है वो फल का फल जन्य जो तृष्णा है उसको लेना तृष्णा सल्लावसेक प्ररूढ़ उस तृष्णा और जल के आशे से बड़े हुए प्ररूढ़ हो गया है बहुत गहराई तक जड़ घुस गया जितना सुख मिलते जा जाता है आदमी को उतनी ज्यादा वो और उसकी वासना मजबूत होती थी जाती इसे प्ररूढ़ हो गया है जैसे जब वृक्ष का जड़ कई किलोमीटर तक चला जाता है अस्वत का भी यही हाल है तो पता नहीं चलता है धरती के अंदर कहां से कहां तक फैला हुआ है ऐसी जबरदस्त फैलते ही इसलिए प्ररूढ़ है वो और जड़ीकृत दृढ़ बद्ध मूल सात्विकारी भाव से निश्रुत होकर क्या हो गया दृढ़ता पूर्वक उनकी बुद्धि जड़ीभूत हो गया इन्हीं कृष्णा के कारण से बुद्धि में विवेक नहीं जगता जड़ीभूत हो गया बुद्धि उसके अंदर विवेक करने की क्षमता ही खत्म हो चुकी कल भी चर्चा हुआ तो ये याद करने वाली बात क्षमता है ना अभी याद करना है लघु याद करना पड़ेगा जरूरी है तर्क संग्रह भी याद करना पड़ेगा क्योंकि ये सब जो है मन और बुद्धि के खेल का, चीज है जब मन और बुद्धि के कसरत के पदार्थ होते हैं उनको तो रटना आवश्यक है उनको रटेंगे ना मन बुद्धि में टिकेगा नहीं चीज जब मानस तत्व का विषय होता है जब बुद्धि तत्व का विषय होता है तो उन तत्वों के लिए संबंधित विषयों को रटना ही पड़ेगा और उसमें छाप डालनी पड़ेगी लेकिन स्वरूप संबंधी स्वरूप विषय के जो ग्रंथ है उनको रटने की जरूरत है क्या तो आपका स्वरूप ही है आप अपने हृदय को साफ कर देंगे तो हृदय के अंदर सारे का सारा अपने आप स्वतः सिद्ध है वहां जो श्रुतियां कह रही हैं ये सारी बात आपके हृदय में है पहले से विद्यमान है इनको डालने की जरूरत नहीं है इसलिए इनको कंठस्थ करने की जरूरत नहीं आप हृदय से इसको सम्यक प्रकार से एकाग्र होकर के ग्रहण करेंगे ना वो पहले से अंदर है ही बस थोड़ा रेडियो ऑन करने वाली बात है पहले से है ना कि उसे पहला होता है क्या शब्द वहां पहले से आ रहा है बस हमने ऑन कर दिया खट से आवाज सुनाई देता है उसी तरह यहाँ पर भी केवल बाहर का जो हम सुनना है केवल इतना जरूरी है सुनना तो जरूरी वही रेडियो ऑन करने का जैसा है हृदय को ऑन कर दिया आपने बाकी तो अंदर विद्यमान है वो प्रकट हो जाएगा अपने आप जितना आपने सुना होगा जितना पढ़ा होगा जितना आप रट भी ले इससे भी ज्यादा है अंदर में तो सब आ जाएगा जो आपने कभी सुना नहीं पढ़ा रहे वो भी सब है अंदर में संपूर्ण ज्ञान रूप है ना आप कि अज्ञान रूप है आप जो ज्ञान रूप है किंचित ज्ञान इसमें आप संसार में आप सोच समझ सकते हो वो सारी चीज वही है ना अलग तो है नहीं हमारे कल कहने का अभिप्राय था कि उपनिषद गीता कंटस करने की जरूरत नहीं का तात्पर्य है आप इसको हृदयंगम कीजिए मन से पकड़ने की कोशिश मत करो बुद्धि से पकड़ने की कोशिश मत करो यदि मन बुद्धि से पकड़नी है तो कंटस्थ करो उसके अर्थ भी रखना पड़ जाएगा काफी हद तक अर्थ में रटना पड़ेगा ना जैसे वृत्ति से सूत्रों में रटते हो नहीं रटते हो